यह प्रवचन हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 21 के श्लोक 6 से 8 पर दिया गया हरिद्वार में वर्ष 2001 में 1 से 7 मई तक आयोजित बेड़ू गीत सप्ताह के अंतर्गत 4 मई की प्रातःकालीन बैठक में यह संपन्न हुआ इति वेरुलवं राजान् सर्वभूतमनोहरम् श्रुत्वा सर्वा अक्षाण्वताम् फलमिदम् न परम् विदामः सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्य हि वक्त्रम् व्रजेशश्रुतयोरनुवेर्जुष्टा मोक्ष जैर्वा निपीतमनुरात्तकटाक्षमोक्षाम् माला प्रवालबरहस्तव कोत्पलाब्ज मालानुकृत्तपरिधानविचित्रवेशौ मध्ये विवेदतुरवम् पशुपालगोष्ठ्या रङ्गे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ ये कहते हैं हे भाव विशेष प्रकाशमान राजन का होता है जो प्रकाशित हो जो चमके राजित हो तो आप राजन है आप राज रहे हैं श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनुसार भाव विशेष से आप प्रकाशमान हैं जब किसी व्यक्ति में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम होता है तो वह बहुत सुंदर लगता है इसीलिए राजन शब्द दिया जा रहा है अथवा यह कहकर कि आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं कृष्ण के प्रति प्रीति से ऐसा संबोधन करके और श्री सुखदेव गोस्वामी उनका हाथ पकड़ करके उठाकर आलिंगन किए संबोधन हस्त ग्रहणादिना कम असौ उत्थाप्य आलिंगी पान किए वेणु रवम सुतवा वेणु का रव शब्द सुनकर गोपियां आपस में वर्णन करती हुई आलिंगन करने लगी वेणु रवम वर्णनते जैसे पहले भी कहा गया है कि बांसुरी के विषय में गोपियां बात करने लगी वेणुगीतम श्रुवा वेणुगीतम वर्णनम कर ऊपर आया था वेणुगीतम श्रुतवा और इसमें आया है वेणु रमम वर्णनम कर यही मुख्य है और और जो भगवान के रूप या लीला की चर्चा की जा रही है वो इसके साथ ही लगा हुआ है श्री के गोस्वामी जी पशु तत्व बेरू वर्ण बेरू ध्वनि का वर्णन कर रही है प्रश्न अर्थात बेरू में कौन सी बात गाई जा रही है कितनी सुंदर है इसी का वर्णन कर रही अथवा बेरू बादल में तत्पर श्री कृष्ण की भाव भंगी कैसी हो रही है कैसे उनका हस्त संचालन हो रहा है ओठ कैसे है कैसे खड़े हैं तो भंग लगे इनका वर्णन कर रहे हैं बेरु के संबंध से है अतो जत्रासो व्यक्तो नास्ते तत्रात्वीर्य एवं अतः आगे जहाँ यह बात स्पष्ट न आए वेणु वादन के विषय में तो वहां भी यहां से समझ लेना चाहिए कभी कभी ऐसा वर्णन है इसमें वास्तविक का वर्णन नहीं किया जाएगा लेकिन वहां समझ लेना चाहिए यही से क्योंकि सुखदेव जन कहते हैं कि वास्तविक के स्वर का वर्णन करने लगे बाद में भी करेंगे जैसे एक श्लोक आया है हंकार मद्र रबला हरिदास वर्ग रुद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रेम मानम तनोति सहगो गणेश तयोज पानी असूयवश कंदर कंद मूल है उसमें वासुरी का वर्णन नहीं श्रीपा सनातन गोस्वामी कह रहे जहां ये जहां ये प्रकट न हो जत्र असो व्यक्तो न अस्थि तत्र अपि उह्यत यही बात मान ले चलनी चाहिए गिरिराज जी पर खड़े होकर के कृष्ण बांसुरी बजाते हैं या जहां तहां वही मुख्य लीला है गुरु बाण कहते थे बांसुरी वादन ही केंद्र में है कृष्ण और इस तरह से कृष्ण की लीला का वर्णन करने लगे नहीं तो श्री सुखदेव गोस्वामी से कह सकते थे कृष्ण लीला का वर्णन करने लगे ऐसा नहीं कहते हैं देवी भाव का वर्णन कर तो वह तो सूक्ष्म बात है इन भक्तों को इसका स्मरण करते हुए चलना चाहिए देव भाव का वर्णन करें जचागे रूप वैशाली वर्णन तत्व पथ सहचर्जन प्रसक्ता रखी गया और आगे जो भगवान के रूप गुण लीला आदि का जो वर्णन है वेशभूषा का तो यह वास्तविक वादन के साथ ही प्रसक्त है ये समझना जब कृष्ण इति पूर्वोत्तम आकर्षणीय अथवा गुरु भाव के साथ आकर्षित करके लाना पड़ेगा और अपनी ओर से देनु भ्रवम और स्मरणते कृष्ण चेष्टितम कृष्ण के लिए गुण वर्णन करो आकर्षणीय वहां से खींच कर इसको लाना चाहिए क्योंकि अंत में भी कहते हैं वर्णयंतो मिथो गोप्य क्रीडास्तम्भ कामजयो अंतिम श्लोक में वसुदेव वर्णयंत क्रीड़ा किसकी क्रीड़ा भगवत भगवान की क्रीड़ा किस भगवान की वृंदावन चारी भगवान की क्रीड़ा वृंदावन चारी न भगवत क्रीड़ा वर्णन यहां तो आगे की वेणु गणों वर्णयंत और अंत में कह रहे हैं कि वृंदावन बिहारी भगवान की क्रीड़ा का वर्णन कर रहे थे तो इसलिए वेणु गांव के साथ साथ इसको शुरू से खींच कर यहां लाना चाहिए या अंत में जो वर्णन किया गया उसको खींच कर लाना चाहिए इसका अर्थ है वेणु वादन से संयुक्त जो भी लीलाएं हैं वे गाते वर्णन कर रहे भूत बात एक बार कहते हैं कि वेणु नादम का वर्णन करने से वेणु गीत कर नहीं कर पाए और क्यों नहीं कर पाए कि स्मरणते कृष्ण चेष्टम इन दोनों में भेद नहीं है कोई व्यक्ति स्मरण करेगा भिन्न पदार्थ का वर्णन करेगा भिन्न तय हो नहीं सकता कृष्ण चेष्टितम का स्मरण कर रहे हैं तो कृष्ण चेष्टितम ही गाएंगे बांसुरी वादन भी कृष्ण की एक चेष्टा विशेष ही है वो कोई अलग से नहीं है तो भगवान की क्रीड़ाओं का वर्णन करना है विडम्बनाओं के साथ ये जोड़ लेना चाहिए और धीरे धीरे और धीरे धीरे का आलिंगित वक्त आलिंगन करने लगे किसका आलिंगन करने लगी यह वर्णन नहीं भगवान के वेणुवाद का वेणुवादन का वर्णन करते हुए अलिंगन करने लगी किसका श्री सुखदेव गोस्वामी कर्म का वर्णन नहीं कर रहे हैं इसका अर्थ क्या रहता है हृदय क्रांतम श्री कृष्ण भावनया हृदय में जो कृष्ण बिल्कुल भरे हुए हैं भावना से उन्हीं का कर हृदय में अलग नहीं कर रहे हैं हृदय में पूरा वृंदावन और गोप सखा और सर्व और बांसुरी वादन भरा हुआ है वहां आलिंगन कर रहे हैं लेकिन हृदय क्रांत हृदय में जो छवि अंकित है उसका आलिंगन कर रहे हैं तो यह नहीं समझना चाहिए कि योगियों जैसा हृदय में आलिंगन भावना से वहीं पहुंच करके बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का आलिंगन कर रहे हैं यह भाव यह कैसे पता चलता है कि आलिंगन कर रहे हैं उनके बाह की मुद्रा यह बता रही है कि कृष्ण का आलिंगन कर रहे हैं एक तो यह अर्थ है अथवा बांसुरी वादन सुन करके इतना आनंद आ रहा है कि सखियां आपस में एक दूसरे का आलिंगन कर रही आनंद से आनंद के उद्रेक से एक दूसरे को में पकड़ने लगी आलिंगन कर रही अथवा वेणु रमन एवं आलिंगन अभिरे धीरे तो वेणु रमन इसमें कर्म है करता है गोपियां तो वेणु का आलिंगन करने लगी अभी कहा जा सकता है तो इसका अर्थ यह है वेणु नादम एवं प्रत्या हृदय संलग्नम चक्रुरीत्या वेणु के स्वर को जब सुने तो मानो उसी को पकड़ करके हृदय में कर रही इतना सुंदर शब्द है उस वेणु के शब्द को ही आलिंगन कर रहे सर्वेशम न मनोहरम की तासा नित्य यहाँ एक विशेष बात है जिसे समझना चाहिए सर्वभूत मनोहर बांसुरी का स्वर समस्त जीवों के मन को हरने वाला था फिर गोपियों के मन को हर इसमें क्या है कि उतरतासन जो बांसुरी के स्वर से शब्द तत्व से प्रेम तत्व से अनभिज्ञ गौएं जब इतना प्रभावित होती हैं कीट पतंग पक्षी प्रेम है पेड़ पौधे भी जब प्रेम में विकल हो जाते हैं तब श्री गोपियों की क्यों नहीं ऐसी दशा है वो तो पहले से ही कृष्ण प्रेम में मग्न है इस प्रकार वे आपस में वर्णन करने लगे अक्षण फलमिदं न परम विदामः सख्यापशूननुविवेशयतो बलस्यै वक्त्रम् व्रजेशुतयोरनुवेरुजुष्टम् जैर्वाग्निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् अक्षरवता नीति त्रयोदशी तेरह श्लोकों में गोपीजनों ने भगवान के वेणुवादन के विषय में कहा अक्षरवता नीति अक्षरलताम जैस पहला शब्द है और इस तरह तेरह श्लोकों में चक्षुष मकान तब इदम एवं फल यही फल है नेत्र फल क्या है नेत्र मिलने का फल क्या है और यहाँ अक्षी शब्द दिया गया है इसलिए अक्षी शब्द से सारी इंद्रियां भी समझना चाहिए आगे चलकर इसकी व्याख्या की चक्षुष्मताम तावत युगम एवं फलम फलम क्या प्रिय दर्शन आंख का फल क्या है सुंदर वस्तु को देख लेना तो आंख का फल क्या है सखी और ईदम एवं ईदम पहले ईदम लगा ईदम का भी भाव बाद में व्यक्त किया जाए क्यों ईदम पहले भाव ईदम फलम फलम प्रियदर्शनम यही फल है परम अन्य न विदान अन्य फल हम नहीं जानते यही फल है आत्मज्ञा का और कोई दूसरा फल वयम न विद्वान न विदान हम नहीं जानते हैं अपरे जानन तुय दूसरे जानते होंगे कि आपका हाँ, फल क्या है दूसरा भी हो सकता है लेकिन हमारी दृष्टि में है सखियों आंखों का फल यही है क्या फल है आंखों का ध्यान से सुनते जाइए मूल श्लोक को वतन फल निगम न करो विराम एक पहली ऐसी बात कही जाती है आंखवानों के आंखों का फल यही है दूसरा कुछ भी नहीं है हम नहीं जानते न अन्य फल अन्य फल का है न तो प्रिय पुत्रादि दर्शन कुछ लोग अपने पुत्र का या प्रिय का या प्रिय पुत्र का दर्शन करना चाहते हैं देखते हैं तो तृप्त होते हैं सोचता आत्मा का फल मिल गया इस संसार में देखने के लिए लोग देखने के लिए लोग कितना मोलायित एक दूसरे का फोटो रखते हैं साथ साथ देखते रहते हैं देखते रहते हैं इसी में जिंदगी बीत जाती है ये आंख का दुरुपयोग है वास्तव में आंख का फल यही है और दूसरा नहीं है किम का तो क्या फल है तो बता रहे हैं कि तच्च फलम वह फल यह है कि सखी सह सखाओं के साथ पशु पशुओं को वनम प्रवेश वन में प्रवेश करा करके जब रामकृष्ण घूमते हैं चलते हॉल में प्रवेश कर एक हॉल से दूसरे हॉल में तो राम कृष्ण वक्तम जय निपीतम सागरम दृष्टम कई रोच दुष्टम सेवितम नान्य इत्यार्थ वृंदावन में प्रवेश करते पशुओं को लेकर के सखाओं के साथ कृष्ण और बलराम प्रवेश करते हैं और उस समय उनके वक्त्र को जिन लोगों ने पिया है निपान किया है अर्थात आदर्श स्नेह से देखा है कई है वह उन्हीं के द्वारा आंखों का फल सेवित हुआ प्राप्त हुआ है पीतम जिन्होंने नितरण पीतम कृष्ण और बलराम के वक्त्र को वक्त्र का तो मुखमंडल मुख को जिन्होंने पिया है कैसे पिया है तो अपने आप समझ लेना चाहिए नेत्रों से पिया है ना अक्षर का पहले समझ लेना चाहिए अथवा निपान क्रिया तो है परंतु करण का प्रयोग यहां नहीं किया गया है पान साधन क्या है आंख से पिएंगे कि कान से पिएंगे होठों से पिएंगे करण कई हो सकते हैं इसमें पहले पान है पीने के लिए तो मान लीजिए कोई कटोरी से पी लेगा चाहे गिलास में पी लेगा चाहे अंजलि से भी पी सकता है लेकिन जिन्होंने पिया है कृष्ण के मुख को या बलराम जी के मुख को उन्हें ही नेत्रों का फल मिला है और किसी को नहीं न कथम भूतम भक्तम तथा अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम अनुरक्त जने से जो कृष्ण में अनुरक्त हैं कृष्ण में परम आसक्त हैं सख या और भी कोई बनवासी जीव या हम गोपियां उनके प्रति जो तुलसी जी जुकाम से देखते रहते हैं तो इस तरह से कृष्ण जब किसी प्रिया पर या किसी सखा पर देख रहे हैं अनुराग से उस समय उनके मुख को देखना यही नेत्रों का फल अनुरक्त कटाक्ष चुनो अथवा जय निपीतम तैर्वक्रम तैर्जुष्टम इधम एवं optional term, optional दूसरा फल नहीं है इसको मिश्रण भागवतम में कहा गया है बरहा इते ते नरान वृंदा ने विष्णु न निरीक्षित मनुष्यों के वे दोनों नयन मोर पंख पर बने हुए नेत्र की तरह बेकार हैं जो भगवान विष्णु के विग्रह का दर्शन नहीं करते शुभ गोस्वामी ने कहा सोनकाली ऋषि जन जिन लोगों ने भगवान का दर्शन नहीं किया है या भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं किया है चाहे भगवान के श्री विग्रह का दर्शन नहीं किया है उनके नेत्र बरहाई पे मैंने लगाना उनके नेत्र बरहाई कर सफल सुनत बड़ हकार तन्मायु है मैं मयूर पंख तो मोर के पंख पर भी आंख जैसा बना होता है वो देखती नहीं है केवल आकार भर आंखता रहता है मनुष्यों के वे नेत्र जो कभी भगवान का दर्शन नहीं करते हैं ये वैष्णव का दर्शन नहीं करते हैं वे मोर के पंख पर बने हुए आंख की तरह व्यर्थ है वो देखे नहीं वास्तव में ब्लाइंड है वे अंधे इस बात को सुन करके कोई शुद्ध गोस्वामी या सरकार इसमें से झगड़ा कर सकते हैं क्यों हम उनको ब्लाइंड कर रहे हैं अरे सीधा अंधा नहीं कह करके कह रहे कि मोर पंख पर बनी हुई आंख है बिल्कुल और भी खराब है ना इस आंख में तो कुछ न कुछ देखने की शक्ति रहती है इधर उधर चंचलता लेकिन वो मोर के पाप पर बनी हुई आंख कह देना एक शिष्ट भाषा में बोल रहे हैं बरहर के के मैंने ने विश्व न लिखे तो श्री गोपिया तो कहती हैं नहीं हम तो ये नहीं कहती हैं कि आंख वाले देखते नहीं देखते हैं लेकिन आंख का वास्तविक दृश्य प्रिय दर्शन आंख का वास्तविक फल है कृष्ण बलराम को वृंदावन में प्रवेश करते हुए देखना खास करके किस मुख को अनुदेन जिसता अनु अनु का अर्थ है अनु, अनु, अनुकूल भावे में जुस्त वेण जिसमें वेण लगा है अनुदेण मुख का विशेषण है जिस मुख पर वेणु है और जिस मुख में ऐसी चिकन है कि अपने प्रेमियों के प्रति देख रहे हैं तो उस समय कृष्ण भगवान के मुख को देखना यही नेत्रों का फल है सखी और कोई दूसरा फल नहीं यह फल आंखों का फल हम लोगों को नहीं मिल पाया है हमारा जीवन व्यस्त चला गया इस प्रकार का फल तो केवल ब्रज के सखाओं को प्राप्त है ब्रज के सखाओं को ही नहीं वृंदावन में प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ है केवल हम लोगों को है हम देख नहीं सकते हैं कृष्ण को ऐसा हमारा जन्म हुआ है चारों ओर से प्रतिबंध है वास्तव में एक अद्भुत बात है सबसे अधिक प्रेमवती गोपियां हैं लेकिन कृष्ण को नहीं देख सकती है निषेध चारों तरफ से ब्रज में है इदम इतिहास आदम निर्देश वक्षमाण परम फल रूप सुगोप्यत्व सहसा प्राक प्रकाशन अयोग्य प्राप्त इसलिए इदम शब्द कहा जा रहा है क्योंकि जो परम फल कहा जाएगा आगे वक्ष मानस से परम फल सुगोप्य थे वो परम फल जो है सुगोप्य है और सहसा प्रारंभ में ही प्रकाशन के अयोग्य है यथवा अथवा हृदय आक्रांत तस्मिन प्रेम भरोदय व्यवस्थे न सद्य तस्व विशेष निर्देशा सकते अथवा हृदय में वह परम फल बसा हुआ है और हृदय आक्रांत है इसलिए प्रेम की बाढ़ से विवशता के कारण उसे तत्काल कहने में शक्ति नहीं है इसलिए इधर फलन पर पहले नहीं कह सकते प्रेम घर परम दूसरा फल नहीं दूसरे फल से का तत्पर है श्री वृंदावनादि परमाश्चर्य दर्शन तस्य जब अन्य ही सहित अन्यदा अन्यथा व दर्शन अक्षण फल न विद्मत है सभी इस ब्रज का दर्शन वृंदावन का दर्शन या और कहीं भी ये सब आंख का फल नहीं है गोपियों के लिए अर्थ किया जा रहा है हम लोग की आंखों का फल तो ब्रज का दर्शन है अखिमा को खौर ब्रज भूमि को तरस है लेकिन गोपिया आपस में कहती हैं सखी हम देख रहे हैं पर्वत नदी सब कुछ लेकिन ये आंख का फल नहीं यह फल है यह फल नहीं है ऐसा कह करके आगे कहते अक्षर फलम वयम न विद्मा वयम शब्द है इसमें में परम विधान क्रिया के साथ वयम जुड़ा हुआ है विधानम क्रिया वयम को अपने आप ले रहा है ले रहे है वयम न विधानम अन्य लोग को जानम तो ना अन्य लोग जानते हैं होंगे आंखों का फल दूसरा दे हम नहीं जानते विदान सबका है हम जानते हैं आंखों का फल हम ये जानते हैं अन्य नहीं जानते हैं अथवा आंखों का फल यही है और अन्य हम नहीं जानते अथवा अथवा हम दोनों जगह लगेगा आंखों का फल यही है हम जानते हैं और अन्य नहीं है हम जानते हैं अथवा आंखों का फल यह है हम अन्य फल नहीं जानते तो हम नहीं जानते हैं तो इसका यह अर्थ है कि दूसरे लोग जानते होंगे दूसरे लोग समझते होंगे कि आंख से हम और देखें और देखने अंधी आंखों का फल हम नहीं मानते या जानने का अर्थ है मानना हम नहीं मानते हैं कि आंखों का दूसरा फल अतो अस्माकम चक्षु सा फल हे सखियों हमारी आंखों का सफल सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि इस प्रकार का दर्शन हमें नहीं मिलता है सदा पथक दर्शना भावना यद्यपि जत्र तत्र जदा तदा जनक तेन प्रकार तद्वत निपान चक्षु फल ब्रजानतस्तु काशन दर्शन सुश्रुत फल तथापि वन विहारे तथा दर्शन सुखी न अब श्रीका सनातन शंकर में यद्यपि जत्र तत्र जदा तदा जैन तेन प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख का पान चक्षु से गोपियां कर ही लेती है ओकर जत्र तत्व जहाते हैं जैसे कन्हर पर या फूल चयन करने या सूर्य पूजा के बहाने जो जत्र तत्व करते हैं जदा तदा जब तब जेना न प्रकार जैसे तैसे आंखों के द्वारा वो कृष्ण के सौंदर्य को पीती है परंतु ब्रजांतस्तु ब्रज के भीतर गांव में दर्शन दसमन सुष्टु फलत्व और ब्रज के अंदर जो आते हैं गाय चढ़ा करके तो कृष्ण का दर्शन ठीक अच्छी तरह से होता ही है फिर भी तथापि वन विहारे तथा दर्शन चुकी न होते लेकिन वन विहार में कृष्ण के दर्शन की जो लालसा है इस दृष्टि से बात कही जा रही वन विहार में कृष्ण को पूर्ण तरह नहीं देख पाती और देखने में एक और बाधा है कि गुरु श्री बलराम जी साथ में आज तो वहां वे निधर देख नहीं सकते और ऐसे घर में वो जा भी नहीं सकती हैं घर के लोग सास से पूछे कहा जा तो वन में क्या बहाना बताया जो चली भी जाए तो सामने बलराम जी हैं जो और दूसरा कार्य है उसमें कुछ बड़े बड़े लोग भी जाते थे किसी की रक्षा करने के लिए जो अनुभवी थे वन में सब चीज देखते थे यहाँ जल है यहाँ ये स्थान है यहाँ ये है वहाँ बाघ रहता है वहाँ नहीं जाना तभी उसे बचा करके रखते थे तो वन में जा करके कृष्ण का दर्शन करना यह संभव इनके लिए नहीं वन विहार के समय से कृष्ण के सौंदर्य का काम नहीं कर पाते किसी भी कहते हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ चला गया आंख मिली लेकिन आंख मिलने का फल नहीं मिला अनमेव ही निर्भर प्रेमरो अतृप्त्यादि विशेष लक्षण स्वभाव यही है अक्सर प्रेम का स्वभाव कभी तृप्ति का अनुभव नहीं होने देता है प्रेम और हे सख्य इसमें संबोधन सख्य संबोधन हे सखियों तो इसका अर्थ है कि हे सखे की जुष्मा भी कबूतरा ज्ञानश्वर तुम सबको मालूम ही है मैं क्या बताऊं नेत्रा का काल है अच्छा अनुविवेश है तो अनुविवेश है तो दो वचन में है ष्टी विभक्ति में कृष्ण और बलराम जब एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते हैं अनु का पश्चात गायों के पश्चात अन्न पहले पशु अन्न पशु पशुओं के पीछे पीछे विदेशय को जो प्रवेश कर रहे वेश शब्द असली क्रिया है प्रवेश स्वरूप शब्द लगा होता है इसलिए विदेश है तो प्रवेश है पशुओं को एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रवेश कराते हुए कृष्ण भगवान के लिए हमने स्वयं प्रवेश करते हुए नहीं प्रवेश कराते हुए अथवा पशुओं के पीछे पीछे प्रवेश करते हुए पश्चात वह बना बनातरम विशेषण प्रवेश न संकेत मधुर शब्दादिना प्रवेश एक वन से दूसरे वन में कृष्ण बलराम प्रवेश कर रहे हैं सखाओं के साथ तो भिन्न भिन्न तरह से गाते हुए संकेत मधुर बिना प्रवेश बांसुरी में संकेत गा रहे संकेत का अर्थ होता है एक तो निर्देशन करना और दूसरे संकेत का अर्थ है अपने राग को प्रकट करना गोपने के प्रति मधुर शब्द करते हुए बांसुरी से प्रवेश करना ऐसे कृष्ण बलराम के मुख को देखना यही आंखों की है अथवा ब्रजेश सूत यो ये सप्तमी विभक्ति में बुद्धि वचन वाला सूत्र है ब्रजेश के दोनों पुत्रों में जो वक्त अनुदेव है जिस पर देणु है उसको बिना आंखों का ये बात बिल्कुल समाज में आ गई ये तो सिद्ध बात है कि श्री बलराम जी का श्री भक्त नहीं बजाते हैं कभी कभी बजाते हैं लेकिन एक ऐसा मुख है जो अनु तो निरंतरम बेल चुष्ट निरंतर बेल चुष्ट है उस चुष्टम को यहाँ लाएंगे बेणु अपने आप में पूर्ण शब्द है लेकिन बेणु जुष्टम का तो निरंतर वेणु से युक्त वक्त को पीना यही निमित्त है ब्रजेश सुतय कृष्ण और बलराम दोनों को नंद बाबा का सुख क्यों कह रहे हैं जबकि ब्रज में प्रसिद्ध बात है कि बलराम जी वसुदेव जी के पुत्र हैं रोहिणी जी ब्रज में रहते थे तो ब्रजेश सुतलो क्यों कहा है ब्रजेश पुत्रों के ब्रजेश को समझ में आ रहा है श्री नंद महाराज ब्रजेश वसुदेव इति ख्यात गोसु के स्थिति भूतलित श्री हरिवंशे श्री हरिवंशोक्तानुसारेण श्री बलदेवस्यापि तत्सुतत्वम् श्री कृष्ण साश्चर्यता पुष्पुत्र पुष्पुत्र पुष्ट पुत्र श्री नंद महाराज के द्वारा पाले गए पुत्र थे तो पाला गया बेटा ही बेटा ही होता है इसलिए ब्रजेश शुद्ध कह देना ठीक है तब साहित्य न बलराम साहित्य न श्री कृष्ण से शोभा विशेष मत लक्ष्य एक तो बात हो सकती है कि श्री बलराम जी के साथ श्री कृष्ण और वृंदावन में निर्भय रहते हैं और एक विशेष शोभा का उदय होता है इसलिए उस दृष्टि से कह रहे हैं अथवा श्री कृष्ण विषय निष्भाव विशेषस्य स्वाभाविक स्व लज्जा आच्छादनाय साधारण गौरव इसको मैं पढ़ लेता श्री कृष्ण के प्रति अपने विशिष्ट प्रेम को छिपाने के लिए बलराम जी को भी लेकर साधारण रूप से व्यक्त करेंगे जहां भी वर्णन आएगा दोनों का लेकिन कृष्ण के मुख का पान ही समझना चाहिए क्योंकि दो वचन में दोनों भाइयों को कहा गया लेकिन वक्त एक वचन में वक्तव कहना चाहिए वक्तव कहना चाहिए लेकिन वक्र एक वचन दो का मुख एक तो होगा नहीं पीतम इति अनिल वक्त सुधा में चरण धन देते अच्छा पीतम जिन लोगों ने जिन नेत्रों ने कृष्ण के मुख को पिया है उन्हें सफल मिला यही फल आगे जो पिएंगे यही फल नितरान पीतम नी नीप है पीतम नितरान पीतम जिन्होंने खूब अच्छी तरह से पिया इसके द्वारा श्री कृष्ण के मुख को सुधा में चंद्रमा चंद्रमा से जैसे अमृत का श्राव होता है वैसे श्री कृष्ण के मुख से अमृत चुका है अमृत क्या है घास जिसका करके देखना और सौंदर्य जल ये बात कही जा रही है तो सुधा में चंद्र रूप का कौन है वही प्रसिद्ध दो क्रिया दी जा रही एक तो निपीतम जिन्होंने कृष्ण के मुख को पिया है और जिनके द्वारा कृष्ण का मुख जुष्ट हुआ है जुष्ट का तो जुक्त तो सेवी सेवा का होता है जो चार गुलाब गुला सेवा किए या कोर्ट से से कृष्ण के मुख को धूलि का अपसारण करके कृष्ण के मुख को पुष करके या सेवा करके और इसके बाद उसको जिन्होंने पिया ये आपका कर्तव्य है पिया है सब अद्भुत बात इसके पीछे बहुत रहस्य है सुनिए तेसा क्षमता इंद्रिय वता निगम निपानम जोशनम चलो कम निपानम और जोशनम विपीतम जुष्कम गौ क्रिया है तो आंखों का या इंद्रियों का फल है निपान और जोशन जोशन शब्द का अर्थ होता है जुड़ से शब्द जो बना है युक्त होना जुटना और निपान यही फल है और दूसरा फल न बीतना हम नहीं जानते आंख वाले कृष्ण के मुख को देखते हैं जुस्तम तो यही आंख का फल नहीं है कृष्ण के मुख को देखना है सखी यही फल नहीं है इदम एवं परम फलम न यही सुप्रीम फल नहीं है आंख से देखना तो फल क्या है फल है जय अधरामृत पान रूपम फलम पीत जिन्होंने कृष्ण के अधरामृत को पिया है ये फल है केवल देखना फल नहीं इसमें कई बातें छिपी हुई अक्षरताम परम फलम उदम न परम विदान उदम में परम फलम न विदान यही परम फल नहीं है कृष्ण को देखना परम फल क्या है Zahmi people. जब अग्रामित पान की संपत्ति से रश्मिंद्रिया सफल जीवन हो जाती है तो नाम एवं सफल से स्वतः सुसते सभी इंद्रियों की सफलता अपने आप है अतः तदानी अस्माकम कर्म अप्राप्त सर्वमेव व्यर्थ नहीं तो इस तरह से उनके कहने का आशय है कि जब इंद्र जिहवा को कृष्ण का अभिरामित नहीं मिला तो इस तरह से आंख से देखना अपने सब व्याप्त हो गया सारी इंद्रियां असफल रह गई इसमें अथवा इसका एक अर्थ यह है वक्रम जुस्तम जिन्होंने कृष्ण के मुख को देखा है यही आंख वालों के आंख का फल है वक्रम जुष्टम च इदम चक्षुष्मताम चक्षुफल त्वर्थे वही शब्द इदम तो फल ये तो फल है लेकिन जस्ट जन ही व नीति कंकेशन फलों किम वक्तव्य विशेष जिन्होंने आंख से श्री कृष्ण को देखा है यही है आंख वालों की आंखों की सफलता फिर जिन्होंने रस रसनेन्द्रिय के द्वारा कृष्ण के मुख को पिया है उनके विषय स्मरण मात्र वास्प रुद्ध व्यक्तन व्यक्तम हो सकते कार्य का आप व्याख्या में ऐसी बात कह रहे हैं गोपना क्यों नहीं कह रहे हैं तो श्री कृष्ण गोस्वामी तो कहते हैं कि अधरामृत का स्मरण होने से ही वास्तव से कंठ रुद्ध हो गया इसीलिए व्यक्त कुछ करेंगे इसी बात जगह बलम तु विगाम एवं न तु अस्माभिज्ञीत विज्ञीत है और विगाम शब्द का अर्थ है कि है सकी हम जानती भर केवल हैं कि आंखों का यह फल है लेकिन पी नहीं सकते जो विगाम जानती और भाग्य अनुभूत है अल्पभाग्य भाग्य इसीलिए न देखने को मिला कृष्ण का मुख न पीने को मिला और भाग्य जीव का वास्तविक सुख उसका वास्तविक आनंद है भगवान से मिलने वाला आनंद प्राकृत लोगों से और प्राकृत वस्तुओं से जीव को जो आनंद मिलता है वही तो आनंद है ही नहीं और और दूसरी बात एक, एक तो दुख रूप है और ये स्थायी नहीं कोई संबंध ही नहीं और जीव में सौंदर्य देखने की स्पर्श की स्वाभाविक वासना ये सारी वासनाएं पूरी हो जाती हैं अपने ओरिजिनल रूप में भगवान कृष्ण को विषय के रूप में पाते हैं यही है वैष्णव दर्शन वास्तव जीव के भीतर जो उत्कंठा है लालसा है प्रवृत्ति है उसको खंडित नहीं करना है केवल संसारिक विषय के बदले भगवान कृष्ण को कर देना है यह भक्ति मार्ग बिल्कुल स्वाभाविक है दूसरे मार्गों में जीव की इंद्रियों की प्रवृत्ति का दमन करना होगा भक्ति पंथ में जिहवा का दमन नहीं करना है जिहवा को डायरेक्शन देना उसमें जो रस वासना है उसको भगवान के प्रसाद में ले जाना है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम और पैर में जो चढ़ने की वासना है हर से काम करने की वासना है इस पर इसको कुंठित करने की आवश्यकता नहीं है भगवान के धाम में जाना चाहिए भगवान के मंदिर में जाना चाहिए भगवान के कीर्तन में नचना चाहिए यही है जीव की स्वरूप स्थिति माथ पै मुकुट देख चन्द्रिका चतक देख माथ पै मुकुट देख कृष्ण ये वर्णन कर रहे हैं वृंदावन में आम का नया नया पत्ता बांधे हैं कृषि तो पर बांधते हैं या जो पाग लगाए हैं जो पाग बांधे हैं पाग बांधना उनका स्वाभाविक है क्योंकि धाम में गाय चलाना होता है तो सिर पर पगड़ी बांधते हैं बहुत सुंदर और पगड़ी में जहां तहां आम का कोमल कोमल पत्ता फंसे हैं शीत पल्लव आम्र पल्लव और प्रवाल प्रवाल का अर्थ होता है कोमल कोमल पत्ता चूतस्य प्रवालो नव पल्लव प्रवाल का अर्थ कर नव पल्लव नया पत्ता स्तबक पुष्प गुच्छ स्तबक का अर्थ पुष्प का गुच्छ है कभी कभी श्री कृष्ण भगवान अपने सिर पर पुष्प का गुच्छा डालते हैं कई पुष्प एक में हो उसको पुष्प गुच्छा कहते पुष्प गुच्छ उत्पलम तदंत कोश कमल के आकार जैसा एक फूल होता है उसको उत्पल कहते हैं उसका अंत कोश उसको लिए उत्पल का अंत कोश कहाँ लिए हैं कान में दोनों कानों पर और आम्रपल्लव पल्लव पुष्पगुच्छ और है तथा स्तबक पुष्पगुच्छ और वर्ग ये सब शीर्ष में सिर पर तो सिर को अवप्रयुक्त शब्द सब जगह लगाना पड़ेगा सिर पर लगाए हैं आम्रपल्लव पल्लव मयूर पंख स्तब और उत्पल दोनों कानों पर और अब्ज दाहिने हाथ में घुमा रहे इसको लीला कमल पर इसकी आवश्यकता पड़ती है कृष्ण को क्योंकि उनका मुख इतना सुगंधित और सुंदर है कि उसी को कमल समझ कर घोरे मरवाते रहते हैं इसलिए कृष्ण हमेशा कमल लिए रहते हैं उसको हटाते हैं नीला तो कमल कहते हैं सर्वदा वृंदावन में कमल लिए चलते हैं और ऐसे भी भगवान विष्णु के स्वरूप में उनको कमल लेने की आदत है खाते हैं चार बाहों में एक बांधे कमल लिए और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भी कमल लिए रहती दोनों का एक ही स्वभाव लक्ष्मी जी हमेशा कमल लिए रहते हैं कमल के वन में रहते हैं इसलिए उनको पदमा कहते हैं पदमा का अर्थ पद्मवादी यानी पद्मधर है वृंदावन लीला में भी भगवान अब जो में पिङ्गलफलं दक्षिण करें एतानि च सब च्युत प्रवाल पलाज यहाँ तक ये सब धारण तो इसके बाद माला और अनुपृक्त परिधानानि च माला धारण किए हैं और वस्त्र धारण किए तो वस्त्र को अनुपृक्त शब्द दिया गया है बहुत ध्यान देने की बात है और कहीं कहीं फूल खोस देना वस्त्र को मोड़ देना काशनी काश लेना वस्त्र को ऊपर को दुपट्टा को भिन्न ढंग से रखना इसको अनुपृष्ट कर सजाए हुए बांधे हुए माला भी ठीक ढंग से पहने हैं माला भी बहुत बड़ी लटकी नहीं हुई माला बहुत तो तंगे से बाहर हुई है नाचना है ना माला झूलती रहेगी वो ठीक नहीं लगता इस अनुप्रयुक्त परिधान धाना जिसको पहना जाए धारण किया जाए पल पर चारों तरफ शरीर में धारण किया जाए तो उसको परिधान परिधान तो यानी कई इन सब चीजों से अर्थात चूकर प्रवाल सबको प्रलब्ज माला परिधान से विचित्र वेश विचित्र वेश चित्र या विचित्र दोनों का एक नहीं अर्थ होता है संस्कृत में विचित्र का अर्थ होता है पहले से भिन्न शोभा अब एक जगह मान लीजिए किसी का चित्र बनाया गया और उससे फिर दूसरा चित्र बनाया गया तो उसको विचित्र होता है विशेष चित्र या चित्र भी अपने आप में आश्चर्य का बोध रहता है अद्भुत अद्भुत वेश भगवान श्री कृष्ण का और श्री बलराम जी का ये वृंदावन अपना खास निवास स्थान है और यहाँ कोई चिंता नहीं किसी का दबाव नहीं वृंदावन की और छंद लीला है पूरे सुख जो भी वेश बनाना चाहे बना सकते हैं मैं कभी गोप का वेश भगवान बनाया है क्योंकि तो छठ लीला में कभी निधार बनते हैं कभी कुछ बनते हैं कभी कुछ बनते हैं ये भगवान का अपना घर है और इसमें कोई चरित्र नहीं ये सब भेष धारण कर किए हैं कृष्ण भगवान दोनों तो इसको भी चित्र वेश कहते हैं या चित्र वेश प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार से सजाते थे वेशभूषा और इस तरह सर्ज करके इन सब से दोनों भाई विचित्र देश और कृष्ण बलराम और पशुपाला नाम गोष्ठिया मंडल्य तत्रापि मध्य चलते थे चलते थे तब तक कहीं सुखद वृक्ष की छाया में अथवा सूर्य का जहां घाम बहुत नहीं लगता था समशीतोष्ण था वहां एकाएक बैठते थे सब गुरा कृष्ण बलराम दोनों ग्वालों के बीच में पशुपाल गोष्ठ है पशुपाल गोष्ठी में और तत्रापि तेषा मध्य गोष्ठी के बीच में अलम विरे जते बहुत सुंदर लगते हैं अलम का अर्थ होता है प्रजा बहुत अधिक सुंदर लगते थे कैसे लगते थे नट वरव श्रेष्ठ नर्तक राज की तरह नाचने के लिए दोनों प्रस्तुत होते और गोप सखा ये सब बजाते थे बाजा और पीछे से भी कोई कोई गाते थे गाते थे और बजाते थे गोप सखा और कृष्ण बलराम दोनों भाव बताते थे नाच नाच और कुछ गाय मानो प्रजन गाते थे स्वयं गोपों के बीच में कृष्ण बलराम नाच रहे हैं और पृथक पृथक इस तरह से गोप जय हो जय हो वाह वाह उत्तम नृत्य उत्तम नृत्य हुआ बहुत अच्छा बहुत अच्छा ये बाजा बजा रहे बाजा कहाँ से लाए हैं नहीं घर से ढोलक मृदंग आदि लेकर नहीं जाए कोई बांसुरी बजा रहा है बांसुरी लिए कोई सिंह बजा रहा है कोई पत्ते का पिपिहरी बजा करते बजा रहा है पत्ता से खास करके ताल के पत्ता से बाजा लड़ के बजा लेते बना लेते हैं आज भी बहुत सुरीली आवाज होती है वही सब लिए और बजा रहे खूब नृत्य हो रहा है बीच बीच में कोई कोई लड़का खड़ा होकर के साथ में हो जाता है यह जो सुख है पशुपाल गोष्ठ नाचने का गाने का जो दृश्य है ये सखी हम लोगों को यह दुर्लभ वास्तविक धन्य तो इस संसार में गोप बालक जिनके बीच में कृष्ण भगवान नाचते हैं और बल्कि वही सहायक हैं गोप बालक ही सहायक हैं उनके बीच में बजा बजा तो देखते रहते इसलिए धन सीता सनातन गोस्वामी कहते हैं पशुपाल पशुपाला नाम गोष्ठ किनके बीच में भगवान बैठे हैं पशुपालों कसाइयों के बीच में भगवान कभी अवतार नहीं लेते हैं पशु का पालन करते हैं उनके बीच में भगवान रहते गोप गोपाल पालन मैंने पालने वाले आज भी देखा जाता है कि पशु का पालन करने वालों के नाम में टाइटल पाल शब्द किया है पाल पाल का भी होता है पालन करना पशुओं का पालन करना और लोग पशुओं का दूध भी सब खाने वाले गोप जो है पालन करते हैं पशु बहुत कठिनाई होती है पशुओं के पालन में पहाड़ में जंगल में खोर में कंदरा में सब चराना पड़ता है घाम में और लोग केवल बस दूध और क्या सब्जी बनाते हैं सब पनीर खाने में तेज हैं पशुपालन में नहीं तो सबसे पवित्र और उत्कृष्ट कोटि के जीव मनुष्यों में भगवान उनके बीच में है पशुपाल शब्द बता रहा है गोपों की पवित्रता को उनकी निष्पापता पशुओं के पालन करने वाले गोष्ठी कृष्ण भगवान देना यह सुख देवता लोग भी नहीं ले पाए देवताओं के बीच में भगवान बैठते हुए तो सिंहासन पर और पूछते हुए ब्रह्मा जी ठीक से सृष्टि हो रही है शिव जी ठीक से आप काम कर रहे हैं इंद्र से पूछते हुए ठीक से सब हो रहा है लेकिन किसके बीच में नाचते हैं गोपों के बीच में नाचते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम न छवि तो वृंदावन की है वास्तव में भगवान है नाचते हैं गाते हैं तथा की मध्य पशुपालों की गोष्ठी में उनके बीच में जब अपने मित्रों के साथ अनुकूल भाव से कोई गोष्ठी की जाती है जैसे इष्ट मित्र कहते हैं इष्टों की जब मीटिंग होती है तो उसको इष्ट गोष्ठी कहते हैं आजकल इष्ट गोष्ठी होते हैं तो सब अनिष्ट गोष्ठी जैसे लगते हैं एक दूसरे का चेक करना उसकी कमी बताना बताना अनिष्ट गोष्ठी होती है इष्ट तो गोष्ठी का अर्थ अनुकूल भाव से एक दूसरे की सहायता करने के लिए गोष्ठी इष्ट गोष्ठ या पशुपाल गोष्ठ की मत दे अतः विशेषण तेसु पृथक पृथक पक्क शोभा प्रकटने और गोपों के साथ सब सबके साथ भिन्न भिन्न भाव से नाच रहे हैं भिन्न भिन्न शोभा प्रकाशित कर रहे हैं कभी कभी अपनों को सीधा करता है तो पूछा दोनों भाई को नृत्य के आदेश में तो बच्चे संभालते हैं सारा काज केवल विविधम रेज तो सुशोभात विविध प्रकार से दे रहे विविधम रेज तू तो उतार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का शरीर छीनना है अतः कब किस रंग का किस प्रकार से युक्त हो जाएगा कोई ठीक नहीं आता विविध रेज रेज अब देखें स्टेज पर कई प्रकार के लाल टाइल्स पर लोग लगाते हैं कभी लाइट ग्रीन दिखने लगता है सबसे कभी पीला कभी व्हाइट कभी नीला इस तरह के दृश्य बनाते रहते तो श्री कृष्ण भगवान विविधम रेजपुर विविध प्रकार से प्रकाशित हो रहे जथा नतवरो गंगम विराजेते इत्यादि दृष्टान्तेन त्रयोनृत्यादिकम स्वच्छंदन सिखादिकम च ये दृष्टांत दे रहे हैं जखा नट वरऊ जैसे नाचने वाले नट जो श्रेष्ठ नट नाच रहे हैं तो नट वरऊ दृष्टांत देने का ये भाव है कि इनके नृत्यादिक के नृत्य कुशलता को और स्वच्छंद को और सुख को व्यक्त कर सुख से नाच रहे हैं का सुख व्यक्त हो रहा है और गोपा नाम अपनी तादृश वेश वैदर्भ्यादिकम वाद्यादि परत्तम चम रहते और गोपों का भी उन्हीं जैसा भेद समझ लेना चाहिए और जो पशुपाल बैठे हैं सब इसी प्रकार के वेशभूषा इसी प्रकार के वाद नृत्य वैदर्भी आदि से युक्त है अन्यथा निर्तादि शोभाया असंपत्त तो बच्चे भी सब इन्हीं की तरह विदग्ध हैं और वो भी इसी देश में हैं बाजा बजा रहे हैं भाव के अनुसार नृत्य काल आदि के अनुसार जय हो जय हो खुद उसमें बीच में कभी कभी सब उठकर नाचने लगते हैं कभी गोचार नाचते हैं और कभी कृष्ण बलराम को बैठाते हैं तुम लोग बैठो ये बाजा बजाना चालू कर कृष्ण बांसुरी बजाने लगते हैं राम जी भी बांसुरी बजाते हैं कुछ गोप नाचने लगते हैं यही दिन भर चलता रहता है तो उसमें थकावट नहीं है वो तो प्रेम है दिव्य आनंद है क्वचक क्वचक का अर्थ तो कभी कभी कभी कभी पशुपालों की गोष्ठी में नाचने लगते हैं गौरव क्वचक का अर्थ तो कदाचित इसलिए सिद्ध हुआ क्रीड़ा वश्य में सदा मध्य अवस्था है क्रीड़ा के आवेश में कृष्ण रहते हैं इसलिए सब समय बीच में ही नहीं रहते हैं आशय क्वच कभी कभी बीच में होते हैं स्नानों की गोष्ठी हो नहीं तो कभी कभी बाहर भी कभी इधर उधर कहीं इसलिए क्वचा शब्द का तो प्रयोग करें औलम औलम विरोध को बहुत अधिक शोभा दे रहे हैं औलम शब्द देने का भाव यह है कि ब्रज मध्य तो विविध संकोचे तादृश गाना देना विराजमानता असंपत्ति है वन में अलम जाते लेकिन ब्रज में जिंदगी संकोच रहता है नाचते लेकिन ऐसे नहीं खुलकर नाचते नंद बाबा हैं उपनंद हैं जशोदा जी हैं और भी कुछ कार्य है तो इतना खुल करके गली में घर में नृत्य नहीं इसलिए इतना सुंदर ब्रज में नहीं लगते हैं जितना वन में लगते हैं तो अलम शब्द तुलनात्मक होता है मध्य तो विविध न तदृश गानादि अभाव इस प्रकार के गान आदि का अभाव है इसीलिए इस प्रकार की विराजमानता का अभाव है इस प्रकार से सूरज गाय मानव दोनों का विशेषण गाय मानव कृष्ण भगवान गाय मानव का अर्थ गालम कऊ कभी कभी दोनों भाई अलाप लेकर के गाने लगते हैं और एकदम एक स्वर में थोड़ा अंतर अंतर नहीं लगता है दोनों के गला में कभी भेद नहीं लगता है कभी गाय मारे और कभी कभी एक भाई गाते हैं फिर दूसरे वो रुक जाते हैं तो दूसरे अलाप लेते हैं और उनका बाजा बच्चों का इनके गान को प्रधान रूप में रख करके होता है फॉलो करते हैं अलाप लेते हैं गाय मानो अथवा गाये न गाने न मान पूजा उत्तम अथवा गान के कारण जिनका मान हो रहा है अर्थात जब ये गीत गाते हैं तो बच्चे जय हो हो वाह ऐसा तो कोई गंधर्व राज भी नहीं गा सकता नारद विश्वास सुचित रथ सब फेल है तुम्हारे आगे कोई ऐसा गा नहीं सकता है धन्य है धन्य इस तरह से प्रशंसा करते हैं तो गाय मानव का अर्थ है कि गाय के कारण गांध के कारण जिनको मान मिल रहा है पूजा मिल रही सर्वतो विशिष्ट मान है सबसे बड़ा पुरस्कार दिया है प्रशंसा की बच्चों के जो क्वचित भो सख्या जुला मिया स्थित्वा विधात्रा दत्तानी चक्षुरादिंद्रियाणी केवलम दिखनी पुरुष तदितर बनम भीतर में गत्वा किमपि अद्भुतम वस्तु दर्शनाद्यम भोग गोश्री के अरे सखी हम लोग तो घर में बैठ करके अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं जीवन का वास्तविक साफल्य तो गोप बच्चे ले रहे हैं कृष्ण भगवान के साथ इस परमाश पे ही नृत्य नृत्याद्या वैसे न तथा गाय गाना करना कभी कभी नृत्य आदि के आवेश में श्री कृष्ण गाते नहीं केवल नाचते रहते हैं कृष्ण तो इसीलिए क्वच गाय मानव गाय मानव के साथ क्वच शब्द लगे कभी कभी गाते नृत्यादि आवेश न तदा गान और करना ध्यान में करते जरूरत कदाचित गाय मानव मान आवाभ्यम समो दुश्मासी को गाय को अस्थि अत्रागत हम गाय इत्यादि प्रकार गर्व या गीत गाने के कारण दोनों को बहुत बड़ा गर्व होता है गाय मान और गाते हुए आलाप लेते हुए कृष्ण कभी कभी कहते हैं बच्चों से ही आज से संसार में किसी से कोई है माई का लाल तो हमारे जैसा गा करके दिखाते ऐसे बोलते थे गाय गाय गान के कारण मान होता गर्व हो रहा है कौन ऐसा लाल कल्ला लगाने गाय बनाकर गाने में नारद जी अभी बहुत श्रेष्ठ कर लेकिन भगवान के सामने क्या है सकल कला गुरु नृत्य भगवान समस्त कलाओं के आदि गुरु उन्होंने ब्रह्मा जी को पढ़ाया और ब्रह्मा जी फिर अपने पुत्रों को पढ़ाया सब तो इस प्रकार परंपरा से गान पढ़ाना कभी कभी गान के आवेश में भगवान कृष्ण और भगवान इस तरह बोलते कौन है गान जुस्मास अथवा बच्चों से ही कहते हैं को गाय को अस्थि अंत आगत हम गाय तू करके गाओ कौन गाता है इत्यादि प्रकार गर्व जजुष्कव अयम से क्रीड़ा माधुरी विशेष है यह इस प्रकार का गर्व होना मान होना कृष्ण को लीला में एक क्रीड़ा माधुरी विशेष है वास्तव तो में इसमें दोष नहीं तो गोपा एवं धन्य वयम तु नितराम अधन्य गोपियां कह रहे हैं कि गोप ही धन्य है हम तो अतिशय अधन्य तेना प्रकार कयो रसवन मध्य प्रलोक भयादिना स्वच्छंद जैसी कभी भी कृष्ण हम लोगों के साथ इस तरह निर्भय नहीं रह सकते हैं हम उनके पास नहीं खड़ा हो सकते हैं फिर नाचने गाने का प्रश्न ही नहीं एवं आगे अपनी वाक्य से सब पूछा तब हेतु लिखता आगे भी प्राय इसी प्रकार के वाक्य आएंगे कि हम अधन्य हैं धन्य ये है जो जो प्रसंग आएगा उसमें यही बात बोलते तो वृंदावन में कृष्ण भगवान इस तरह बिहार करते हैं इसलिए वृंदावन के लीला कहा जाए ब्रज वृंदावन धाम लगे Krishna सुधा के खेले द्वारे सोन सुधा के खेले द्वारे सोन सुधा के खेले द्वारे सोन सुधा के खेले द्वारे ज्ञानी ज्ञानी खोजत हा ते ब्रज संसार के लोग बड़े बड़े भक्त थे भगवान से धन मांगते हैं लेकिन ब्रज के लोग ही वास्तविक प्रेम करते हैं कृष्ण से इसीलिए ब्रज में और जगत भगत में बहुत भारी अंतर है या ते ब्रज और जगत भगत दूसरे लोग व्रत करते हैं तप करते हैं तो भगवान से बड़ मांगना चाहते हैं हमको तो ये चाहिए ये चाहिए लेकिन व्रत में गोपियाँ व्रत करती हैं तो हमको ही पति के रूप में मांगती है हमसे नहीं मांगती है व्रत करी गोपी जमुना नहाए रवि गिरिजा को नियुक्त मनावे रवि गिरिजा को नियुक्त मनावे पतिया बर पावे मिले कृष्ण पतिया बर पावे मिले कृष्ण पतिया बर पावे नाचने वालों की जगह पर छोड़ना चाहिए सर नाच नहीं पाते हैं जगह नहीं ठीक सिंधु सुता जो लक्ष्मी को मैं भरता सिंधु सुता जो लक्ष्मी ताको मैं भरता ताई को मांगे जगत भक्ति भई बढ़िया जो लक्ष्मी जी हैं उनका मैं पति हूँ और संसार हमारी ही पत्नी को मानता है लक्ष्मी को मानता है देखिए सिंधु सुता जो लक्ष्मी ताको मैं भरता ताही को मांगे जगत भक्ति भई बलिहार बलिहार का अर्थ भक्ति को तो बलि पर चढ़ाती लक्ष्मी मांगता है भक्ति में लेकिन यहाँ क्या है कि ब्रज के लोग साहूकार हैं और ये जगत भिखारी है जब जगत के सब लोग मांगते हैं और ब्रज देता है कृष्ण को इसलिए ब्रजजन सहकार भिखारी जगत बेचारो ब्रजजन सहकार सब्जियां मुझे अच्छी नहीं लगती बहुत ठीक बिना प्रेम से मुझे अर्पण करता इनके जन मोयन भावे इनके जन मोयन भावे इनके जन मोयन लगाते दिन को भोग लगावे और यहाँ यहाँ का तो कहना ही नहीं ब्रज का यहाँ तो ठेकी का भोग न खाता बेझर की रोटी मिले प्रेम भरी फटकार बेझर कहते कई प्रकार के और जैसे बाजरा ज्वार गेहूँ चना ये तो बेघर की रोटी मिलती है और भी फटकार लेकिन प्रेम से खाओ यही बेघर की रोटी मिले प्रेम भरी फटकार देह धरे को फल मिलो सुफल भयो अवतार मेरा अवतार लेना सफल हो गया कि यहाँ बेघर की रोटी मिलती है ऊपर से गाली मिलती है मेरा अवतार सफल हो गया साल दुसाला खाल साल है